अभी जो मेरी वीडियोस अपलोड हुई थी पिछले जो सेशंस अपलोड हुए हैं उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर फोटोग्राफी के बारे में भी बता दो सबके बारे में तो आपने बता दिया जो आप हो उसके बारे में तो बता दो फोटोग्राफी के बारे में कितने जानना चाहते हैं है इंटरेस्ट कि उसमें क्या किया जा सकता है फोटोग्राफी का बेसिक सा कोर्स अब तो मेरे को नहीं लगता वो भी करने की खास ज़रूरत है क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं कि एक एस कैमरा को ऑपरेट कैसे करते हैं एस कैमरा आज की डेट में कितने में आ जाता है मान लेते चलो बीस हजार रुपये में आपको एक ढंग का कैमरा मिल जाता है वो चाहिए अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफी आपको करनी है तो सीख लिया फोटोग्राफी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं वो लोग सिखा रहे हैं ऑनलाइन मतलब बहुत वीडियोज़ हैं हज़ारों मेरे ख्याल लाखों वीडियोज अवेलेबल हैं जिसको आप देख देख करके सीख सकते हो अब ये काम क्या है फुल टाइम है पार्ट टाइम है पार्ट टाइम है अभी फुल टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ में एक एस कैमरा खरीदा आपने और सीखना शुरू कर दिया ऑनलाइन सीखा और क्लिक किया अब यहां से पैसा कैसे कमाया जा सकता है लगाओ दिमाग कुछ स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट है इंडिया में सबसे बड़ी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट हमारी है by the name of images Bazaar dot com ये इमेजेस पता है यूज कैसे होती है आप जो भी एड्स देखते हो न्यूज में मैगजीन्स में यहाँ पे वहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन उसमें कुछ इमेजेस होती हैं फोटोग्राफ्स होती हैं वो कहाँ से आती है एक कि वो कस्टमाइज शूट करते हैं दूसरा स्टॉक परचेज करते हैं अब कस्टमाइज में क्या प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल उनको ताजमहल की फ़ोटो यूज़ करनी है तो उनको एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा आगरा जाना पड़ेगा बॉम्बे से फॉर एग्जाम्पल और जा करके शूट करके आना पड़ेगा कितना लंबा प्रोसेस है और कितनी कॉस्ट है इसमें लाखों रुपए लग जाएंगे उस शॉट के लिए दूसरा तरीका क्या है वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे जा करके सर्च करेंगे उनको हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑनलाइन ही पेमेंट करके इमीडिएटली डाउनलोड कर लेंगे अब इसमें फोटोग्राफर का क्या फ़ायदा है जो इमेज आपने शूट करी है मान लो उसमें अलग अलग फोटोग्राफर्स हैं हज़ारों फोटोग्राफर्स हैं हमारे पास में आप भी मान लो उसमें से एक हो तो अगर आपकी वो इमेज है हमारी वेबसाइट पे और वो किसी ने परचेज कर ली तो उसमें 50 परसेंट आपको मिलेगा 50 हमको मिलेगा ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है क्लियर है यहाँ तक yes, अभी आसान लग रहा है मुश्किल लग रहा है आसान, आसान भी है मुश्किल भी है हमेशा इसको याद रखना अपने माइंड में क्योंकि अगर आप बोलोगे मुश्किल है तो दिमाग बंद हो जाएगा और बोलोगे आसान है तो हो सकता है आप बहुत हल्के में ले लोगे इसको क्योंकि आप अकेले नहीं हो हज़ारों फोटोग्राफर्स हमारे पास में और वर्ल्ड वाइड ऐसे लाखों फोटोग्राफर्स हैं जो यही काम कर रहे हैं इसको स्टॉक फोटोग्राफी बोलते हैं अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो कुछ एक्स्ट्रॉडनरी कर सकते हो तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है there are lot of photographers internationally जो इसमें लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं वो क्या करते हैं शूट करते हैं और जो ऐसी वेबसाइट्स हैं उनको देते हैं एक और ऑप्शन क्या है आप हमारे कॉम्पिटिटर बन जाओ इमेजेस बाजार डॉट कॉम है हमारी वेबसाइट आप एक खोल दो आ, नहीं नहीं बढ़िया इमेजेस बाजार डॉट कॉम तो हम अपने आप ही घटिया हो गए है ना देख लो क्या ज़बरदस्त आइडिया दिया है आपको है ना तो ये तो हो गया एक इमेजेस का पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल स्टॉक फोटोग्राफी का इसके अलावा फोटोग्राफी में और क्या किया जा सकता है वेडिंग किया जा सकता है प्री वेडिंग आजकल एक नॉर्म बन गया है उसमें लोग बहुत कमा रहे हैं प्री वेडिंग शूट का आपको पता है नॉर्मली लोग कितना चार्ज करते हैं मिनिमम बीस हजार क्योंकि उसमें वहीं पे नहीं होता है वो शूट वो कहीं आपको लेकर के जाते हैं जैसे आप कहीं पे गए किसी लोकेशन पे गए या कहीं पे गए वहां पे जाकर के शूट हो रहा है मिनिमम बीस तीस हजार रुपए से शुरू होता है और लाखों में जाता है तो यहां पर अच्छी कमाई है फोटोग्राफी में ऑप्शन देख लेते हैं ना क्या क्या है एक प्री वेडिंग है एक वेडिंग है कस्टमाइज शूट कर सकते हो कस्टमाइज मतलब समझते हो कोई बंदा है वो मान लो अमेजोन के लिए काम करता है कितने हैं ऐसे जो बंदे जो अमेजोन फ्लिपकार्ट इनके लिए अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में लाखों लोग हैं उनकी डिटेल आपको वहां से मिल जाती है प्लस उनको सर्च कर सकते हो उनके नाम से तो उनकी कहीं ना कोई वेबसाइट या कोई ना कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उन लोगों को क्या आप कॉन्टैक्ट करके ये नहीं बोल सकते कि हम एक्सक्लूसिवली जो ये ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं उनके लिए हम फोटोग्राफी करते हैं तो उनकी मेहनत बच नहीं गई और बोलेंगे एक्स्ट्रा ही करते हैं और एक प्रोडक्ट का अगर आपने रीजनेबल भी चार्ज किया तो हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं हर एक बंदे के समझ गए अगर एक बंदे से एक प्रोडक्ट का दो सौ रुपए भी चार्ज किया और उसके सौ प्रोडक्ट्स भी तो बीस हज़ार रुपए एक बंदे से आ आपके पास में प्लस वो रेगुलरली अपना कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं लोग उसकी वेराइटी ऐड करते हैं उसमें भी आपको पैसा मिल सकता है तो आप चाहो तो इन अलग अलग चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हो बिकॉज यू नेवर नो इसमें से क्या क्लिक कर जाए हो सकता है जो मैंने आपको अमेजोन वाला आइडिया दिया ऐसा भी लोग कर रहे हैं इंडिया में ये एकदम से क्लिक कर जाए और प्रोडक्ट फोटोग्राफी बड़ा आसान होता है उसमें क्या होता है आप एक बॉक्स खरीद सकते हैं उसको टेंट बोलते हैं एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट टेंट होता है वहाँ पे आपने कैमरा लगाया ट्राईपॉड पे और उसका प्रोडक्ट को शूट किया अलग अलग एंगल से उसकी वीडियो भी बना दी तो ऐसा कुछ कर सकते हो जो और लोग ना कर रहे हो और बढ़िया क्वालिटी अगर उसको दोगे तो वो रेगुलरली आपसे कराएंगे नहीं कराएंगे तो वहाँ से कितना पैसा आ सकता है अगेन कोई लिमिट नहीं है क्योंकि शुरू आपने एक दो लोगों से किया जिनके प्रोडक्ट्स आपने शूट करे अब जब आप कर लोगे दो चार के तो आपके पास दिखाने के लिए काम आ गया आप औरों को कांटेक्ट करोगे तो आप बोल सकते हो कि देखो ये भी हमसे कराते हैं अब ये भी कराते हैं ये भी कराते हैं ये भी कराते हैं इस तरीके से करके आप अपने काम को बढ़ा सकते हो और कोई ऑप्शन फोटोग्राफी में पोर्टफोलियोज कर सकते हो जो मॉडलिंग करना चाहते हैं उनको अपना पोर्टफोलियो चाहिए होता है तो आप स्टूडियो हायर कर सकते हो अपना स्टूडियो बनाने की जरूरत नहीं है स्टूडियो हर जगह रेंट पर मिल जाता है दिन का हज़ार रुपये दो हज़ार तीन हज़ार पाँच हज़ार depending upon the size of the studio वो आपने रेंट पे ले लिया पोर्टफोलियो के कितने चार्जेस होते हैं दस बीस हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है डिपेंड करता है आपका काम कैसा है मतलब ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्या कर सकते हो अगेन यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि this is the age of social media मैंने जब फोटोग्राफी शुरू करी थी तो मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करता था तब मेरे पास लोग आते थे पोर्टफोलियो बनवाने के लिए शुरू जब मैंने किया था बाद में तो फिर मैंने वो एडवर्टाइजिंग करनी बंद कर दी थी क्योंकि फिर वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो गया था फिर रेफरेंसेज शुरू हो गए थे मतलब लोगों के थ्रू लोग आ रहे थे तो आप क्या कर सकते हो आपको न्यूज़पेपर में ऐड थोड़ी करना है न्यूज़पेपर की ऐड बहुत महंगी है तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है तो वो लोग जो मॉडलिंग करना चाहते हैं वो ऑलरेडी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हैं तो उनको क्या वहाँ से एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप टैप कर सकते हो नहीं कर सकते want to get a portfolio done शुरू में सस्ते में बनाओ जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाएगा अमाउंट बढ़ाते चले जाओ मैंने भी ऐसे ही किया था आ रहा है सब कुछ मुझे कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें करने वाला बंदा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ये सारे ऑप्शन जो भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ आसान है अलग अलग तरह की एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हो अलग अलग तरह के कामों के लिए मतलब प्री वेडिंग शूट की एक अलग ऐड चल रही है पोर्टफोलियो की अलग ऐड चल रही है प्रोडक्ट फोटोग्राफी की अलग ऐड चल रही है समझ गए देखो ध्यान से समझना ये जो फोटोग्राफी है ना this is not a product this is an art अब आर्ट की क्या वैल्यू है एक पेंटिंग है उसकी क्या वैल्यू है पेंटिंग जिसपे बन रही है उसकी तो वैल्यू है कैनवस इतने का बिकता है जो स्टैंड है जिस पर वो स्टैंड इतने का है इतने का क्यों दे रहे हो इतने का पेंटिंग हजार रुपए की भी बिकती है और करोड़ों की भी बिकती है क्या कॉस्ट है वहां पर पेंट की कॉस्ट है आर्टिस्ट की है ये डिसाइड कौन करता है वो कितने की है आर्टिस्ट डिसाइड करता है मैं कहता हूं मेरी पेंटिंग एक करोड़ की है लेना है लो नहीं लेना मत लो ऐसे ही समझ गए मेरी बात आप चाहे एक मर्सिडीज बेचो चाहे एक साइकिल बेचो मेहनत तो बराबर है या अलग अलग है ये बात समझ आई या नहीं आई अलग अलग है मेहनत अरे साइकिल बेचने में ज़्यादा है सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ साइकिल लेने आएगा वो तो सोच के आएगा कि आज पूरा दिन है मेरे पास में आज तो सौ रुपए का फायदा करके ही जाऊंगा उसका सौ रुपए का फायदा मतलब आपका सौ रुपए का नुकसान ये उसका माइंडसेट है जो मर्सिडीज लेने आ रहा है वो उसके पास अगर आप थोड़ी देर फालतू बैठ गए ना वो कहेगा भाई क्यों मेरा टाइम खराब कर रहे हो शॉर्ट में बताओ ना फटाफट बताओ उसके टाइम की वैल्यू है अब आपको देखना है आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हो वहां साइकिल बेचने पर बीस बीस रुपए मिलेंगे मर्सिडीज अगर आपने एक भी बेच दी तो लाखों रुपए मिलेंगे इसको कमीशन बोलते हैं इंसेंटिव बोलते हैं तो डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप किस लेवल पे कर रहे हो हर लेवल पे करने वाले बंदे बैठे हैं ऐसे बंदे भी हैं जो पांच सौ रुपए पे काम कर रहे हैं ऐसे भी हैं जो एक दिन का पांच लाख ले रहे हैं आपको देखना है वो आपकी अपनी विजन है कि आप कहां जाना चाहते हो तो पहले ही अपने माइंड में फिक्स करो कि मैं किस सेगमेंट के लिए काम करने वाला हूं हर सेगमेंट में लोग हैं काम कराने वाले जिस सेगमेंट में आप घुस जाओगे उसी से रिलेटेड आगे रेफरेंसेज आएंगे उसी से रिलेटेड नॉलेज आएगी उसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस आएगा वही आपका लेवल बन के रह जाएगा शुरू में अगर छोटे लेवल पे आप काम कर भी रहे हो दिमाग बड़ा रखो छोटा लेवल है एक तरीके से सीढ़ी है अगले लेवल पे जाने की वो एंड नहीं है कि अगर हजार दो हजार रुपये में काम कर भी रहे हो तो सोच रखो बीस हजार वाली सोच हजार दो हजार वाली मत रखना नहीं तो फंस जाओगे समझ गए किसी का फोलियो बना रहे हो पोर्टफोलियो बना रहे हो दो हजार रुपये में तीन हजार रुपए में क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है एकदम से कोई आपको पचास हजार नहीं देगा बट फोलियो जिस लेवल का बना रहे हो वो बना रहे हो पचास हजार वाला क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वहां जाना है क्वालिटी में मेहनत नहीं लगती है दिमाग लगता है क्वालिटी दिमाग से कनेक्टेड है I have personally met with all kind of photographers इनको फोटोग्राफर्स भी बोल सकते हो आर्टिस्ट भी बोल सकते हो ऐसे ऐसे बंदे जो दिन का पांच लाख रुपए चार्ज करते हैं एक शूट का ऐसे ऐसे बंदे जो पांच सौ रुपए में भी तैयार है करने के लिए फ़र्क क्या है उनका जो खुद का माइंडसेट होता है ना उसमें फ़र्क होता है जो पांच सौ रुपए का काम करने वाला बंदा होता है उसके माइंड में वो एक्चुअल में पांच सौ वाला ही होता है अगर उसका काम पांच हजार वाला भी होता है लेकिन माइंड में वो पांच सौ वाला होता है तो सामने वाले बंदे उससे पचास पचास सौ सौ रुपए की किचकिच कर रहे होते हैं उसको खुद भी नहीं पता होता है कि उसका काम पांच हजार वाला है या पचास हजार वाला है वो कोई वो बंदा देख के बता सकता है जो एक्सपर्ट है उसमें जैसे आप मेरे को दिखाओगे तो मैं एक मिनट में बता दूंगा अरे ये तो बहुत तगड़ा है बट उसके माइंड में वो <laughs> छोटा है तो वो छोटा है on the other hand there are photographers जो एक दिन का पांच लाख भी चार्ज करते हैं और वो मुझे नजर आ रहा है कि कुछ नहीं हो पांच हजार वाला भी काम नहीं है समझ गए तो इसीलिए मैं कहता हूं एक्चुअल में माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है बिजनेस में सबसे बड़ा रोल माइंडसेट का है कि आप अपने दिमाग में क्या हो दिमाग में अगर आपके माइंड में ये बैठा हुआ है कि यार मेरे को कहीं से पांच सौ रुपए भी आ जाए एक दिन का तो बहुत है तो जो आपके पास में आएगा वो आपसे पांच सौ के आपको ढाई सौ भी नहीं देगा और दिमाग में आपके बैठा हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो लाख रुपए दिन का है तो अगर आप किसी से भी बात करोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं हो आपकी आंखों में नजर आ जाएगा पोर्टफोलियो बनाने वाले हजारों फोटोग्राफर्स है इंडिया में कोई पांच हजार भी चार्ज कर रहा है कोई पचास हजार भी चार्ज कर रहा है जो बनवाने आ रहा है उसको तो एबीसीडी भी नहीं पता फोटोग्राफी की उसको तो कुछ भी दिखा दो हाँ बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत अपनी फोटो सभी को अच्छी लग रही होती है <laughs> समझ गए हाँ थोड़ी बात भी होगी तो आपको अच्छी लगने लग जाएगी तो अब वहां पे क्या खेल चल रहा होता है कि जो फोटोग्राफर है उसके माइंड में वो क्या है उसका कॉन्फिडेंस कैसा है वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है नॉट नेसेसरी कि फोटोग्राफी भी उस लेवल की है या नहीं है समझ गए क्या हो रहा है यहां पे माइंडसेट का खेल है तो कोई भी काम करोगे पहले इसको मैं और अगर एक लाइन में सबक करूं जो भी मैंने अभी तक कहा है इससे रिलेटेड फोटोग्राफी से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड पहले आप अपने माइंड में अमीर बनोगे बाद में एक्चुअल में अमीर बनोगे